फिर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने इस बात को जो उनके लिए कही गई थी उसके माँ सिवा से बदल डाला तो हमने उन लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल किया जिन्होंने जुल्म किया इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे